तात तातजसुतोरा रघुबर किङ्कर कुमुद चकोरा उदित सदायथ ये कबहुना घटिहि न जगनभ दिन दिन दूना पोक तिलोक प्रीतियति करहे प्रभु प्रताप रवि छबिहीन हरहि निस दिन सुखद सदा सब का काहू ग्रसहीन कई कर तब हो हे तात तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा कभी अस्त होगा ही नहीं जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं वरन दिन दिन दूना होगा त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा कई कई का कर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा पूरन राम सुपेम पियूषा नहि दोषा राम भगतयब अमीय के धे हो सुलभ सुधा भगीरथ सुरसरियानि सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुण गण बरनी न जाहे अधिक कहा जही समझ नाहे यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले राजा भगीरथ गंगा जी को लाए जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है जाशु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भयाय देह रही ननिक बहु निरखे नहीं अघाय जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंदगन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए कीरत बेधु तुम के नयनो जह बस राम प्रेम मृग रूपा तात गलाने करहु जिय जाए डरहु पार सुपाए सुनहु भरत हम झूठन कहे उदासीनता रहहिं सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है हेतात तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो हे भरत सुनो हम झूठ नहीं कहते हम उदासीन हैं किसी का पक्ष नहीं करते तपस्वी हैं किसी की मुँह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते सब साव साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ फल कर फलु दरसु तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा धन भरत धन्य तुम जसु जग जय कहियस प्रेम मुनि भयऊ सुनि मुनि बचन सभा सदहरसे साधु सराहे सुमन सुर धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा सुनि सुनि भरतु नगनयनुरागा सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है हे भरत तुम धन्य हो तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं पुलक गात राम सजल सरोरुहनैन करि प्रणाम मुनि मंडल हे बोले गद गद बैन भरत जी का शरीर पुलकित है हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र त्रेमाश्रु के जल से भरे हैं वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले